Oh. अष्टादश अध्याय छाछठ नंबर के श्लोक तक विशेष विचार हो गया आगे कुछ फलश्रुतियां हैं गीता के अध्ययन करने का पढ़ाने का अथवा सुनने का कुछ फलश्रुति है उसके आगे फिर इसके बारे में शिष्य ने सुना कि नहीं सुना भगवान पूछते हैं यह है और अंतिम में संजय के अपने मंतव्य अपना मंतव्य बताएंगे ये बोलना है शास्त्र तात्पर्याथम विचार द्वारा निर्धारित अमंत्र सुलभम उत्तारित कर रहे हैं शास्त्र गीता शास्त्र अभी चल रहा शास्त्र शास्त्र माने शासक शासन करने वाला इसको शास्त्रित शास्त्रम शासन करता है क्या शासन ये करो ये ना करो दो बातें बोलता है किसी शास्त्र में जाओ दो ही बातें होते हैं चाहे लौकिक उपदेश भी यही होगा ये करो ये मत करो शास्त्र तात्पर्य तात्पर्यार्थम शास्त्र के तात्पर्य का जो प्रयोजन है क्या प्रयोजन निकला गीता शास्त्र का विचार द्वारा निर्धारित विचार के माध्यम से निर्धारण किया गया गीता का जो तात्पर्य किसमें है अनंतर श्लोकम बता रहे थे कहते विचार के द्वारा निर्धारण कर चुके हैं यहां तक पूर्व में अब आगे के श्लोक के अवतरण देते हैं कहते हैं सर्वम इत्यादि का आवास में सर्वम गीता शास्त्रार्थम उपसमृद्ध सारे संपूर्ण गीता जो भी जो शास्त्र है उसका जो प्रयोजन है उसका उपसंहार करके गीता का प्रयोजन तो ही है साध्य साधन भाव में गीता है मान कर्मयोग साधन ज्ञान योग साध्य निष्काम कर्मादि के माध्यम से अनुकर्म सिद्धि के माध्यम से ज्ञान होगा में परमात्मा का है कि ज्ञान होगा यही गीता शास्त्र का कहना है ज्ञान से मोक्ष होगा यही है सर्वम गीता शास्त्रार्थम संपूर्ण गीता का जो शास्त्र गीता शास्त्र का जो विषय है उसको उपसंहार करके अस्मिन अध्याय किसमें इस अध्याय में विशेष रूप से कहा इस अध्याय अष्टादश अध्याय में अस्मिन अध्याय विशेषतः विशेषत अंत इस अध्याय के अंत में छाछठ श्लोक में आकर के भाष्यकार ने बहुत विचार किया कर्म से मोक्ष है कि ज्ञान से मोक्ष है या उभय मिलकर के मोक्ष है ऐसा विचार किया भाष्यकार जब पूर्वपक्ष भाष्य लिखते हैं तो निष्पक्ष होकर के लिखते हैं ये भाष्यकार की एक विशेषता है पक्ष साक्षात वो जैमिनी जैसे बन करके लिखते हैं जैमिनी बोल रहे हैं ऐसा लगता है जब पूर्व पक्ष भाष्य पढ़ते हैं है तो शंकराचार्य के है तो ऐसी स्थिति है जो न्यायिकों के साथ में जाते विचार करते तो पूरे गौतम जैसे लग जाते हैं शंकराचार्य जी प्रणाद तो जैसे लगते हैं स्थिति ऐसी है बौद्धों के शास्त्र में सार्थार्थ करते हैं तो लगते हैं साक्षात बुद्ध है ऐसा लगता है माने निष्पक्ष होकर के लिखते हैं उनके जो विषय है उसके आगे खंडन बाद में शुरू करेंगे भाष्यकार की विशेषता है तांत्रिकों के पास गए हाँ, महान तांत्रिक बनकर की बात किया क्यों जो सामने वाला उसी भाषा में बोल रहा होगा शंकराचार्य सारे जानते थे स्थिति क्या बोलते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जो जगत के गुरु हैं जितने नास्तिक वर्ग है उनके भी गुरु बने उनको आस्तिक बनाया है अपने समय पर उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से कहीं तर्क से कहीं शास्त्र से स्थिति है तो सर्वम गीता शास्त्रार्थम उपसमृत सारे संपूर्ण गीता के रूपी जो शास्त्र है उसके विषय को संहार करके अश्विन अध्याय जो अठारहवें अध्याय चल रहा अभी उसमें इस अध्याय में विशेष विशेषतः अंत और विशेष रूप से इस अध्याय के अंतिम में जो सर्वशास्त्रार्थ तो प्रसंगा प्रकट दिया था जहां मैं सर्वधमान जी के आगे जी लिखा है सारी भाषा हम कई दिनों में पढ़ रहे थे यह शास्त्रार्थ ताव्याय गीता शास्त्र के जो विषय प्रयोजन है उसको दृढ़ करने के लिए क्या प्रयोजन है किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए गीता शास्त्र यह उपदेश किसको देना है किसको नहीं देना है शास्त्रार्थ दृढ़ाया कहते गीता शास्त्र है उसके प्रयोजन दृढ़ता के लिए संक्षेप तो उपसंहारम कृपा संक्षेप से उपसंहारी कर दिया गीता शास्त्र के प्रयोजन को संक्षेप से ज्ञान से मोक्ष है कर्म से मोक्ष है विचार करके सिद्ध कर दिया ज्ञान से मोक्ष है और कर्म निष्फल भी नहीं है साधन के रूप में है जब तक कर्म नहीं होगा परमाश्रम हित कर्म तब तक ज्ञान नहीं होगा किंतु मोक्ष के पूर्व श्रेणी में ज्ञान है ये शंकराचार्य का क्रम मान कर्म मुक्ति क्रम कर्म समुच्चय है कर्म और ज्ञान में सम समुच्चय नहीं है ज्ञान के बाद में कर्म की आवश्यकता नहीं है नदी पार होने के बाद नौके की आवश्यकता नहीं किंतु तो नौका विफल भी नहीं है नदी पार के लिए तो आवश्यकता है नदी पार होने के लिए आवश्यकता है गांव जाना हो तो नौके को भी जरूरत है किसके लिए नदी पार होने नदी पार हो चुका हो आवश्यकता इसी प्रकार उस आत्मभाव में पहुंचने के लिए कर्म की अपेक्षा है उसके बिना ज्ञान नहीं होगा ज्ञान के बिना आत्मभाव तो सकता ठीक है संक्षेप तो उपसंहार होता संक्षेप से यहाँ विशेष रूप से उपसंहार कर दिया इस अष्टादश श्लोक के माने छाछठ श्लोक के भाष्य अतः इधानी शास्त्र संप्रदाय विधि अब इस समय में शास्त्र के जो परंपरा के परंपरा को संप्रदाय कहते हैं गुरु शिष्य भाव से चल रहा जो शास्त्र पूरे ने शिष्य को बताना कालांतर में जाकर फिर वो गुरु हो जाएगा फिर वह शिष्य को बताएगा इस काल से नारायण से लेकर के आज तक वो परंपरा चली है नारायण पर को भगवत वशिष्ठ क्या हम बोलते हैं ये हमारी जो परंपरा शास्त्र की प्रकाश है भगवान नारायण से शुरू है एक विवाद एक एक की बात करते हैं हमारे कान तक आया है सुनने को मिला अगर यहीं पर समाप्त कर देते हैं तो आगे की पीढ़ी वंचित रह जाएगी आगे भी चलाना होता है जो गुरुजनों से पाया है आगे हमें भी देना है कर्तव्य है तो शास्त्र को उपसार करे अहिदानु शास्त्र संप्रदाय संप्रदाय में संप्रदान विधि किसको देना किसको नहीं देना सम्यक प्रदानम संप्रदाय यही है परंपरा गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके विधि बताते प्रकार बताते किस प्रकार चलना चाहिए शास्त्र की परंपरा किसको देना है किसको नहीं देना है ये कहना है ये कहने के लिए कहा मूलिक इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम युभ्य स्थिरं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यम न च यज्ञ यज्ञसूयते इदम शास्त्र इदम गीता शास्त्र ये जो गीता शास्त्र है शास्त्र शब्द न नपुंसक में इसे इदम शब्द प्रयोग कर रहा है इदम गीता शास्त्र ते तुभ्यम तुम्हारे लिए है अर्जुन मैंने गीता शास्त्र तुम्हारे लिए कहा मया उत्तर या अध्ययन करना होगा कि गीता शास्त्र को मैंने तुमको कहा ऐसा भगवान कह रहे हैं किंतु तुम बड़े हो मेरे से उपदेश प्राप्त हो गए सब किसी को नहीं देना ना अतपस्काय तपस्वी को तपस तपस्काय बोलते हैं न तपस्काय अतपस्काय अपत अपतस्तकाय न वाच्यम आगे वाच्य क्रिया है जो तपस्वी न हो उसको नहीं कहना चाहिए मैंने उपदेष्टा का कर्तव्य कहां दिखता है उपदेष्टा जो तपस्वी न हो इंद्रियादि निगृहित न हो मनस्य इंद्रियाणाम चाहे काग्रम परमम तप मन और इंद्र को नियंत्रण जिसने नहीं किया हो उस व्यक्ति को गीता शास्त्र को उपदेश काम नहीं करेगा नहीं कहना चाहिए दूसरा न आया जो मेरा भक्त हो भगवान को मानता न हो नास्तिक हो उसको भी नहीं कहना चाहिए न वाच्यम आगे वाच्य है क्रियापद है उसको भी नहीं कहना चाहिए तपस्वी न हो उसको भी नहीं कहना चाहिए उपदेश नहीं देना चाहिए उसको और भगवान के भक्तन हो उसको भी नहीं कहना चाहिए कदाचन बल कभी भी कभी भी नहीं कहना चाहिए इसी स्थिति में इनको नहीं देना चाहिए अनर्थक कर देगा वो न चाह सुश्रूष व्यवाच्यम और तीसरे है जो सुनना नहीं चाहता हो उसको भी नहीं कहना चाहिए सुनना नहीं चाहता इसके इस उपदेश को सुनना नहीं चाहता हो जो उसको भी नहीं कहना चाहिए न जमाम योगेश्वरी जो मेरी निंदा करता हो माम मुझको मेरी निंदा करता हो भगवान की निंदा करता हो जैसे हिरण्य का सुहा थे ना भगवान की निंदा कर निंदा शिशु बाल तंत्र पुत्रादि ऐसे व्यक्ति को भी यदि समाज में ऐसा हो तो उसको नहीं कहना चाहिए ये चार को ध्यान से देखना चाहिए चार व्यक्ति को कभी इस उपदेश को नहीं देना चाहिए इदम गीता शास्त्रम तेवन अर्जुनाय अर्जुन तुम्हारे लिए मैंने कहा ये अध्ययन करना भया उत्तम न तपस्काय जो तपस्वी न हो इंद्रिय और मन को जिन्होंने नियंत्रण नहीं किया उस व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए उस उपदेश को और न वक्ता है कहा जो भक्त न हो भगवान के भक्त न हो उसके लिए भी नहीं कहना चाहिए न वाच्यम कदाचार में कभी भी अभी नहीं तो तभी ऐसा नहीं कभी भी नहीं कहना चाहिए यथा अशुश्रूषु वाच्यम और अशुशु हो जो सुनना नहीं चाहता हो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता भगवान की कथा तीन प्रकार की कथा है कभी सगुण साकारवाद की कथा है कभी सगुण निराकारवाद की कथा है कभी निर्गुण या आत्मकथा है यहां आत्मरूप से कथा है भगवान की कथा है आत्मरूप से निर्विशेष भाव जो आत्मभाव उसकी कथा है परमात्मा तीन रूप है सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार माने उपनिषदों में जो जिस भगवान की चर्चा होती है स्वयं की हमारी होती हो आपको पता सुलझा हुआ साधक कोई समझता है हम ब्रह्माष्टमी इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए उपदेश ठीक है न जो नहीं सुनना चाहता एक उपदेश को उसको भी नहीं कहना चाहिए न चमाम सूयती जो असूया करता हो निंदा करता हो माम माने जो भगवान बोल रहे हैं मुझ मेरी जो निंदा करता हो उसको भी नहीं कहना चाहिए न जमाम सूयती कहा मेरी निंदा करता उसको भी नहीं कहना चाहेगा ये कहते हैं ठीक है मेरा प्रकृति खलु अष्टादशाध्याय ये प्रकरण अठारह अध्याय है ना पूरे अठारह अध्याय है अष्टादशाध्याय प्रकृत गीता शास्त्रार्थम सर्वम प्रतिपति सौकर्यार्थम उपसंख्य तो प्रकृत प्रकरण में भी है अष्टादश अध्याय हमारे सामने है इसमें गीता शास्त्र का जो विषय है प्रयोजन है सर्वम सब के सब प्रयोजन प्रतिपति सब सौकर्यार्थम कहते हैं ज्ञान की सुकरता के लिए श्रोता को अनायास ज्ञान हो जाए इसके लिए उपसंहार करके हम अठारह अध्याय को करके अंतेज अंतिम में जो सासठ नंबर के श्लोक आया था सर्वभगवान परित्यज्य मामे कम सरलम प्रजय श्लोक में इत्यादि इत्यादि श्लोक में विशेष तस्य संक्षेपण उपसार के द्वारा तो, जो उपसंगार किया था पहले गीता शास्त्र का फिर विशेष रूप से उपसार के कहा अठारह अध्याय के जो छठवा श्लोक है उसमें उपसंगार तो, करके संप्रदाय विधि प्रबोधन से अवसर है अब किसको देना किसको नहीं देना हाँ, गुरु शिष्य परंपरा को संप्रदाय कहते हैं माने उसको <clears throat> अब दूसरे को उपदेश देने का प्रसंग आएगा जो अभी जिसने सुना है तो स्थिति में किसको देना किसको नहीं देना <clears throat> संप्रदाय विधि यही है परंपरा गुरु शिष्य परंपरा ये चलनी है इसका कथन का जो अवसर आ गया संप्रदाय मैंने गुरु शिष्य परंपरा के कथन के अवसर में अवसर सती इदानिम इति योजना इदानिम इस समय इदानिम का अर्थ ये होता है इदानिम शास्त्र संप्रदाय विधि में आह एक आठवासी में शास्त्र संप्रदान की विधि बताते हैं अच्छा। किम विस्तृत उपसमृत शास्त्रार्थ संक्षिप्त उपसमृत अरे विशेष रूप से तो हो ही गया था द्वितीय अध्याय से लेकर के अष्टादश अध्याय तक विशेष रूप से गीता शास्त्र का अर्थ कहा हुआ जगत जगह स्थान पर फिर अंतिम में उपसंहार क्यों किया संक्षेप से जो विस्तार से किया हुआ वो संक्षेप क्यों किया यह प्रश्न है किमित किस लिए विस्तरण उपसंकृत शास्त्रार्थ विशेष विशेष रूप से उपसंहार किया हुआ शास्त्र का विषय है गीता शास्त्र का विषय संक्षिप्त उपसंकृत फिर संक्षेप करके यहाँ उपसंहार क्यों किया जाता ये प्रश्न आते हैं संसार हम्म। शास्त्रार्थ दार्घ्यार्थ संशय पता कृत्व के शास्त्र संप्रदाय विधि में आता है शास्त्र के संप्रदाय की विधि संप्रदान की विधि संक्षेप अभ्याम उक्त अर्थ दो तरह से कहे जा कहने पर ना वो विशेष हो जाता है दृढ़ हो जाता है विषय क्या होता है केवल विशेष मात्र करेंगे तो श्रोता भूल जाकर कहां कहा था कहां पहुंच गए और संक्षेप से कहने पर समझ में नहीं आएगा तो संक्षेप और विस्तार दोनों होने चाहिए व्याख्या में ये पहले विस्तार से कहा था अंतिम आगे सारांश है निकला भाई संक्षेप में बता दिया ये कहा है संक्षेप विस्ताराभ्याम उतो अर्थ सर्वेशा दृढ़तया बुद्धि आरोहित यही है हाँ, संक्षेप और विस्तार दोनों रूप से कहा हुआ जो विषय है वह सर्वेशा सबके लिए दृढ़तया बुद्धि में आरोप मजबूती रूप से बुद्धि में आरूढ़ हो जाती है हो जाता है कौन वो विषय कौन विषय संक्षेप विस्तार दोनों प्रकार से कहा गया हो इसलिए भगवान ने यहां पहले विस्तार में कहा उसके बाद अष्टादश अध्याय में संक्षेप में कहा हिताय व्याचा से रहे हिताय शब्द हो तो आगे आएगा भाष्य की बात है इदम मान शास्त्र ये तो गीता शास्त्र एकदम का अर्थ पूर्वोक्त जो गीता शास्त्र सर्वनाम एकदम से पूर्व का परामर्श करेगा ये गीता शास्त्र है यहाँ एकदम मान शास्त्र में जो शास्त्र है गीता शास्त्र है ते मन तब तुभ्यम तुम्हारे लिए तुम्हारा आया तुम्हारे हित के लिए हम्म, जिसमें कल्याण होगा तुम्हारा श्रोता का मया उत्तम मैंने कहा तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने कहा गीता शास्त्र क्योंकि तुम्हारी मुक्ति के साधन दिया मैंने कर्म और ज्ञान के माध्यम से दो ही निष्ठा है गीता में कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा माने जब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं है तब तक कर्मनिष्ठा है अंतकरण की शुद्धि हो गई विश्व से वैराग्य हो गया उस बाद ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए वेदांत सर्वणादि तत्पश्चात ज्ञान निष्ठा ये स्थिति है तो इदम शास्त्र ते हिता है तुम्हारे लिए मैं उत्तम भगवान कहते मैंने कहा संसार विच्छेद किसके संसार नाश के लिए है जन्म मरण रूपी जो चक्कर है जिसमें दुख है उसके नाश के लिए किंतु अतस्वकाय जो तपस्वी न हो न विद्यते तपो इसमें अतपस्क तस्वय अपतस्काय जिसमें तप नहीं है इंद्रिय निगृहित रूप तप नहीं है मन को जितने मन को निगृहित नहीं किया हो इंद्रिय निगृहित किया नहीं किया हो वो अतपस्वी माना जाता है उसको नहीं कहना चाहे तपोरहिताय कहा तपोरहिताय न वाच्यम यदि व्यवहित में संबंध कर रहे हैं व्यवधान है ना तपस का आगे आगे तो ना भक्ताय आएगा किंतु बाच्यम शब्द आगे है एकदम ते न तपस्काय वाच्यम ये जो मैंने कहा हुआ शास्त्र है गीता शास्त्र इसको जो तपस्वी न हो उसको नहीं बताना चाहिए तपस्वी ने भी अभक्ता है तपस्वी तो हो किंतु भगवान के भक्त न हो इंद्रिय विजयी तो हो किंतु भगवान के भक्त उसको भी नहीं कहना चाहिए तपस्वी ने भी सारे मिलकर के विशेषण है सब एक के ऊपर एक विशेषण तपस्वी ने भी कहते हैं तपस्वी होने पर भी तपस्वी के लिए भी न भक्ता यदि भक्तन हो भगवान के भक्तन हो उसके गुरुदेव भक्ति रहित आएगा गुरुदेव की भक्ति से रहित हो कदाचन कश्यांचित व्यवस्थायाम कभी भी किसी भी अवस्था में न बाज उसको भी नहीं करना चाहिए तपस्वी भले हो यदि गुरु के बात में विश्वास नहीं करता हो भक्त गुरु भक्त न हो उसको भी नहीं कहा विश्वास से विश्वास फलद आएगा यदि गुरु के वचन में विश्वास नहीं किया गुरु जी तो भगवान के बारे में बोलेंगे तो विश्वास में क्या फल मिलेगा उसको एक भक्त तपस्वी है भक्त भी है भगवान के भक्त भी है गुरु के भक्त भी है और तपस्वी भी है फिर भी सुनना नहीं चाहता हो इस वाणी को सुनना नहीं चाहता हो गुरु की सेवा तो करता हो भगवान को मानता हो किंतु सुनना नहीं चाहता हो उसको भी नहीं चाहिए भक्त तपस्वी भक्त भी है तपस्वी भी है फिर भी ऐसा होता हुआ अश्रुसु कहा जो सुनने की इच्छा ना हो उसको अश्रुसु कहते हैं यो भगवती जो अश्रुसु होता है जो सुनना नहीं चाहता हो इस शास्त्र को तस्मा ये बात वाच्यम उसको भी ना कहना चाहिए न तो सुसुभ वाच्यम करके कहा था है उसको भी ना कहना चाहिए और चौथा विशेषण है न जवाब ये कोई सुहृति जो मेरी निंदा करता हो भगवान की निंदा करता हो उसको भी ना कहना चाहिए क्यों नवम अध्याय बोला था न तमाम नम दिमा मां बूढ़ा माम सुन तम नुमाश्रिता परम भाव में तो मैं बहुत महेश्वर नवोदय मेरे को मनुष्य समझते हैं लोग अवजान निंदा करते हैं हम जानते हैं हमारे सामने पैदा हुआ है ऐसा बोलते हैं हाँ। नंदा बाबू के यहां पैदा हुआ हमारे सामने ऐसा बोलते हैं मेरे को मतलब अवजान दिमाग अविज्ञा करते हैं मेरी मूढ़ा कौन मूर्ख लोग अज्ञान लोग मेरे विशेष रूप से जिनको ज्ञान नहीं है ये तो मेरी बनावटी रूप है मैं कुछ कार्य करने के लिए रूप लेके आया हूं ये रूप तो मैं बदलता रहता हूं जैसे जैसे प्रकृति आती है रूप में बदलता रहता हूं तो रूप बदलने वाला रूप ही भिन्न होता है मेरा परम तत्व तो नहीं समझते इसलिए मेरी निंदा करते हैं शरीर भाव से देखते मेरे क्या देखते हैं भगवान ने कहा होते हैं अवजान दिमा मूढ़ा अंतर तमाशता मनुष्य शरीर में अभी मैं दिख रहा हूं तो मनुष्य शरीर से करने के कार्य है इसलिए इस शरीर को धारण किया मैंने वास्तव में तो मेरा शरीर ही नहीं है तो न चमाम वासुदेव वास है सर्वाणी भूतानी थी वासुदेव सबको अपने में वास करवाता है सभी परमात्मा में आश्रित हैं इसलिए वासुदेव कहते हैं न तो यो माम वासुदेव प्राकृतम मनुष्य मत मुझे प्रकृति जन्य एक मनुष्य समझते हैं लोग जो लोग ऐसा समझता हो जो वक्ता जो लोग ऐसे समझते हो ये मनुष्य है ऐसा मानते हो मेरे को अभ्यसु यदि निंदा करते हो जो तो लोग आत्म प्रशंसा भी दोषा अध्यारोपण हमारे में जो गुण है उसमें है ही नहीं ऐसा दोष लगाना अपने अपनी प्रशंसा के लिए दूसरे की निंदा करते हैं दूसरे की निंदा करना माने ये व्यक्ति खराब है माने भाई अच्छा हूं कहानी बताकर यही होता है यही होता है दूसरे की निंदा ये खराब है का अर्थ तात्पर्य अपने की प्रशंसा के लिए होता है आपका प्रशंसा अपनी प्रशंसा के लिए दोष का आरोपण करते हैं दूसरे न होता हुआ भी दोष को लगा देते हैं मर देते हैं लोग उसी को कहते हैं निंदा क्योंकि नहीं निंदा निंदी तुम प्रवर्तते अभी तो विदेश तो तत्व्यर्थम कहते हैं निंदम निंदितु न प्रवर्तित निंदा निंदा जो होती है दूसरे जो कि निंदा की प्रवृत्ति नहीं होती निंदा का अर्थ उसकी निंदा नहीं होती अपनी प्रशंसा में तात्पर्य उसका क्या है और यदि साधक बनना हो तो ध्यान दे रहा दो चीजों से वंचित रहना निंदा और चंदा जो चंदा में लगेगा वो भी बस चला गया अब उधर ही चला गया विष्णु रूप चला गया पूरा और निंदा में लगेगा वो भी ऐसे करता रहेगा निंदा चंदा तो उसे बचना चाहिए साधक बनना हो तो तो न चमाम व्यपिश्वेत गाथा न यो माम जो मुझको वासुदेव मैं वासुदेव सबको अपने में रखने वाला हूं प्राकृतम मनुष्य मत मैं प्रकृति जन्य मानते हैं माता पिता आदि से उत्पन्न मानने वाले जो लोग होते हैं मनुष्य मान करके अभ्यस हुए थे जो मेरी निंदा करता हो क्योंकि निंदा तो आत्म प्रशंसा आदि दोषा अध्यारोपण कर अपने प्रशंसा करने के लिए दोष का आरोप करके मेरे पे दोष आरोप करते किसके लिए अपनी प्रशंसा के लिए मम ईश्वरत्व अजान मेरे जो ईश्वरत्व है इसको न जानते हुए मेरे ऊपर दोष मरते हुए जो निंदा करते हो कहा न न सहते न सहन नहीं करता मेरे ईश्वरत्व को सहन न करता हुआ निंदा करता जैसे शिशुपाल दंत थे असो अभी अयोग्य है वो भी अयोग्य है ये कथा इस कथा सुनाने योग्य नहीं वो भी तो अयोग्य तस्मयी अभी नवाच्यम उसके लिए भी नहीं सुनाना चाहिए गीता को नहीं कहना चाहिए ये कहा उसको भी नहीं कहना चाहिए किसको कहना चाहिए फिर ये चारों को निषेध कर दिया इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न शास्त्र सुवाचम न तमाम विश्व चारों को निंदा कर दिया ये गीता के उपदेश देने योग्य नहीं है कहा फिर किसको देना चाहिए ये कहते हैं किसको देना चाहिए तो बोलते हैं भगवती आय भाषण बोलते हैं भगवान में जिसकी भक्ति हो श्रद्धा हो भगवती भक्त आए तपस्वी ने भगवान के भक्त हो तपस्वी भी हो क्या हो इंद्रिय आदि विग्रहित किया भी हो और सुनने की इच्छा वाला भी हो भगवान के विषय में कथा सुनने की इच्छा भी हो जिसको होती है भगवान के भक्तों तो ये मानते हैं वाणी गुणानुकथन श्रवण कथायाम हस्तव च कर्म सुमना तव पाद भगवान के भक्तों की स्थिति होती है मेरी वाणी हमेशा कीर्तन आपके कीर्तन में लगे वाणी गुणानुकथन आपके गुणों के कथन में लगे श्रवणो कथायाम दोनों कान मेरे जो है ना आपकी कथा में लगे सुनने में लगे हस्तौच कर्म सुमना और मेरे हाथ आपके कर्म में आपके पूजा अर्चना में जाए मन जो मेरा मन है तब पाद हमारे जो मन है ये आपके चरणों में हो ये भगवान के भक्तों की ऐसी ऐसी इच्छा होती है तो <clears throat> भगवती भक्ता आय किसको कहना चाहते यही है भगवान के भक्त के लिए तपस्वी ने तपस्वी के तपस्वी हो भगवान के भक्त हो और शुश्रूषु हो भगवान की कथा को सुनना चाहता हो या आत्मरूप से भगवान की कथा चलते वेदांत में किस रूप से आत्मरूप से अद्वैत रूप से चलता है अनुसूय वे और निंदा नहीं करता हो मेरी निंदा नहीं करने का अनुसूयु बोलते हैं निंदा करने का असूयु बोलते हैं इसके लिए सब बाच्य इनको तो कहना चाहिए माने इसके विपरीत हो जो श्लोक में कहा गया इनसे विपरीत हो उनको कहना चाहिए शास्त्र में भी सामर्थ्य या शास्त्र को कहना चाहिए सामर्थ्य है निंदा कर दी श्लोक में उनको नहीं देना चाहिए उनको नहीं देना चाहिए इसके क्या इनके विपरीत को देना चाहिए बात इतनी आती है ये सामर्थ्य है श्लोक के सामर्थ्य ये है इन इनको नहीं देना कहा चार जन, चार जनों को नहीं देना बोला उनसे जो विपरीत धर्म वाले होंगे उनको देना चाहिए उपदेश करना चाहिए तत्र अब मेधावी ने तपस्वी ने हुआ इति विकल्प कहते स्मृति में कहीं कहा है बुद्धिमान हो मेधावी हो ग्रंथ के अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो बुद्धि में उसको मेधावी छात्र बोलते हैं जब तात्पर्य निकालता हो उसको मेधावी बोलते हैं बुद्धिमान मेधा माने बुद्धि के विषय गुण है मेधा वाला है बुद्धिमान है तो उसको कहना कहा उससे स्मृति की बात है भी ने तपस्वी ने बात यह दो में कोई विकल्प किया इनको पिता को उपदेश करना चाहिए ऐसा स्मृति की बात है मेधावी हो बुद्धिमान हो ग्रंथ में क्या कहा उसको निर्णय लेने की शक्ति हो जिसमें जिसकी बुद्धि निर्णय ले सकती हो उसको भी कहते हैं और तपस्वी हो इंद्रियादि निगृहित करके बैठा हो उसके लिए कहना चाहिए ये दो विकल्प दो विकल्प है स्मृति में होने से मेधावी को भी हो तो तब भी देना चाहिए या भगवान मेधावी के लिए कहा नहीं कुछ कहा नहीं चार का निषेध किया तो उनसे विपरीत चार आ जाएंगे बुद्धिमान हो कोई विशेष उसको भी कहना चाहिए अर्थ होता है सुश्रुदा भक्ति भक्ति या जिसमें से, सेवा की इच्छा हो सुनने की इच्छा हो भक्ति से भी हो भगवान में श्रद्धा भी रखता हो सुनने की इच्छा भी हो उसके लिए तपस्वी उगता है शुश्रूषा भी हो भक्ति भी हो तपस्वी भी हो उसे युक्त मेधावी भी हो माने जिसको देना चाहिए गीता शास्त्र मेधावी इसके लिए बाप इनमें से किसी को पढ़ सकते हैं किसी को गीता शास्त्र को उपदेश उन्हीं को देना होगा नहीं तो शुश्रूषा भक्ति भी युक्त है न तपस्वी नहीं ना भी मेधावी वाचन शुश्रूषा नहीं है सुनने की इच्छा भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है भक्ति इतने होने ऐसे देवे परा ऐसे देवे परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरु भाई माने परमात्मा में जैसी भक्ति होनी है उसके पहले गुरु में भक्ति होनी पड़ेगी उनके वचनों में एक निष्ठा से माने यह सही बोलते हैं मानना पड़ेगा नहीं तो कहां से विश्वास आएगा भगवत तत्व को बताने वाले गुरु के मुख से भगवत तत्व बताया जाता है यदि शास्त्र में शास्त्र से बोलता नहीं गुरुजनों के माध्यम से बोला जा रहा है जितने निष्ठा जितने श्रद्धा भगवान में उतनी श्रद्धा पहले गुरु में होना चाहिए ठीक है सुश्रुषा भक्ति युक्त आय जो सुश्रूषा सुनने की इच्छा भी नहीं भक्ति भी नहीं इसे रही थे जो न तपस्वी नहीं तपस्वी होने पर भी नहीं ना, ना भी मेधावी नहीं मेधावी को ही निकालना चाहिए मेधावी हो तपस्वी हो फिर भी सुश्रूषा भक्ति से युक्त होना चाहिए भगवती असूया युक्ता है जो भगवान ने निंदा युक्त जो व्यक्ति निंदा करता हो शिशुपाल दंत पत्र समान है जो समस्त गुणपति भी सारे के सारे गुण और हैं किंतु भगवान की निंदा करता हो तो उसको नहीं कहना चाहिए नवाच्य में कहा हुआ है भगवती असूया युक्त आय मानी असूया से युक्त है जो निंदा से युक्त है भगवान में निंदा कर रहा है तो सारे सारे गुण उसके पास है और गुण है होने पर भी उसको नहीं कहना चाहिए गुस्सु शुश्रा गुस्सु शुश्रूषा भक्तिपति वाच्य में कहते हैं गुरु के सेवा करने वाला हो और भक्तिमान भी हो माने भगवान में भक्ति भी हो उसको तो कहना चाहिए ये संप्रदाय शास्त्र संप्रदाय ये शास्त्र संप्रदान करने की विधि है माने उपदेश देने की विधि है उपदेष्टा को समझ के देना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए ऐसे को नहीं देना चाहिए स्थिति है टीका से देखते हैं मतलब सेवा और सुनने की इच्छा दोनों है द्वंद्व की इच्छा को बोलते हैं शुश्रूषा सेवा को बोलते हैं शुश्रूषा दोनों बोलते सुनने की इच्छा वाले को पहले क्या करना पड़ेगा सेवा करनी पड़ेगी तद विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवाया उपदक्षित ज्ञानम ज्ञान तत्व तत्व बोल के आए उसको समझो उस तत्व को आत्म तत्व को समझो किसके द्वारा तद विद्धि प्रणिपात है ना सबसे पहले नम्र होकर जाओ साष्टांग प्रणाम करो आगे तुरंत प्रश्न नहीं है जाते ही हाँ, एक क्वेश्चन है आपके पास ऐसा नहीं होता तो क्या प्रसन्न होंगे वो नहीं होंगे तद प्रणिपात है ना प्रणिपात करो उसके बाद सेवया तत्पश्चात प्रश्न है ऐसा हुआ वो वो तो श्लोक बनाने के लिए परिप्रश्न ने पहले रख दिया सेवा बाद में सेवा करो उनके शारीरिक क्या स्थिति है कैसी स्थिति में है क्या है किस बात की जरूरत है किस चीज की आवश्यकता है सेवा से जब वो आपके सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब वो आपको उपदेश करेंगे फिर प्रश्न करना महाराज ये क्या होगा तत्पश्चात उत्तर देंगे उपदक्षिण ज्ञान हम ज्ञान तत्व आजकल तो ऐसा हो गया तुरंत एक क्वेश्चन नहीं डाले महाराज क्या क्वेश्चन है पता नहीं ये थी आप प्रकृति खलु अष्टादशाध्याय ये तो हो गया था आगे संक्षेप विस्तार में तो हो गया सर्वेशा हृदय बुद्धि मारद बोल दिया संसार आ गया ना कदाचन यदि सर्वे संबंध थे तो कदाचन शब्द ना अव्यय है किम शब्द से धा प्रत्यय करके कला बना फिर ये चनप और हाँ, चणा ये दो प्रत्यय लग जाते हैं एक चणप है तो ये चण प्रत्यय लगा हुआ है अव्यय अव्यय बन जाता है पद चना चित्त और चना दो ऐसे कश्चित किम शब्द में लगता अन्य में लगता किम शब्द में पूरे विभक्ति विभक्तन तो होने के बाद में कभी चना लगा देते हैं कभी चित्त लगा देते हैं कश्चित माने कोई कदाचन कभी ऐसा है कदाचन अव्यय बना हुआ है कश्चित भी अव्यय बन जाता है विभक्तन तो होने के बाद लगते हैं कहते हैं कदाचन यदि जो कदाचन शब्द आया हुआ है मूल में वह सर्वेक्षण सारे विशेषण के साथ में कदाचन विशेषण लगेगा अब आया कदाचन नवाच्यम आया कदाचन नवाच्यम ऐसा होगा अशुश्रुष्वे कदाचन नवाच्यम योग्य माम थे कदाचन नवाच्यम इत्यादि ये सब चारों के साथ में कदाचन विशेषण लगेगा बोल दिया है अच्छा प्रतिशत सामर्थ्य सिद्धम अर्थ हो यहां तो निषेध ही कर दिया उसको नहीं देना उसको नहीं कहना उसको नहीं कहना फिर किसको कहना निषेध किया है तो कहीं तात्पर्य होगा तो भगवान इनके निषेध किया तो ये भक्त को हो तपस्वी हो भक्त हो शुश्रूषु हो भगवान की निंदा नहीं करता उसको कहना चाहिए ये कहते हैं भगवती इत्यादि कहा था किसको कहना चाहिए तो कहा यही कहना है भगवती आया तपस्वी सुबह अनुसूय वाच्यम ये गीता उनको कहना चाहिए कहा वाच्यम सामर्थ्या शब्द से तो नहीं है मैंने अर्थ से आ गया क्या आया शब्द से तो निषेध कर दिया चारों को नहीं देना बोल दिया तो अर्थ से जो आया सामर्थ्य यही है किसको कहना चाहते इनको कहना चाहिए सिद्ध होगा टीका में कहते हैं अर्थ सिद्धे अर्थ स्मृत्यंतर में अनुसृत्य वेदावित्तम अंतर्भाव भाव भी कहते हैं देखो अर्थ से सिद्ध हुआ है चारों को कहना चाहिए अर्थ से आए शब्द से तो नहीं है ये चारों को नहीं कहना चाहिए ऐसा तो शब्द है किंतु इन व्यक्ति को कहना चाहिए ऐसा शब्द नहीं है इनके जो विपरीत होंगे उनको कहना चाहिए यह अर्थ से आया हुआ अर्थ है किससे अर्थ से आया हुआ है अर्थ सिद्धे अर्थ अर्थक सिद्धे अर्थ में स्मृत्यंतर अनुसृत है एक दूसरी गीता भी स्मृति है अन्य स्मृति के अनुसरण करते बोलते हैं मेधावित्व अंतवायु मेधावित्व भी लेना है ये चारों मात्र को कहना नहीं और भी है कौन मेरा बुद्धिमान हो तो उसको देना जैसा अधिकारी है वो ठीक है तत्र इत्यादि कहा था तत्र मेधा ने तपस्वी ने इति अनयर विकल्प दर्शन अन्य स्मृति में देखा है क्या देखा है तपस्वी को देना है अथवा मेधावी को देना है भगवत गीता में मेधावी शब्द नहीं है अन्यत्र अन्य स्मृति में है तो मेधावी भी एक विशेषण और लगेगा कहा ताभ्याम युक्त आया तपस्या से युक्त हो मेरा भी हो ताभ्याम युक्त आया इत्यादि कहा उनसे दोनों से युक्त हो भगवती असूया रहित आया भगवान ने निंदा भी नहीं करता उसे रहित हो तपस्वी ने जवाब जब तपस्वी भी हो उसको कहना चाहिए ये कहा तदयुक्ताय शुश्रूषा भक्ति अनुसूया सहित आया तदयुक्त तदयुक्ताय का शुश्रूषा भी हो और भगवान में भक्ति भी हो भगवान की निंदा भी नहीं करता हो ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहिए ऐसा होता है जैसे कोई प्रधानमंत्री आते बदल समय पहले राष्ट्रपति के लिए आगे क्या करना पड़ता उनको ये नहीं करूंगा ये करूंगा ये करूंगा बोलना पड़ता है क्या बोलते हैं उसको भाई ऐसे यहां भी है ठीक है हम कहते हैं निरपेक्षम अधिकार विशेषण संकाम थे निरपेक्ष है अधिकारी का विशेषण लोग एक एक अकेले अकेले स्वतंत्र हैं केवल भक्त हो तब भी कहना चाहिए ये कोई कह सकता है केवल तपस्वी हो उसको भी नहीं नहीं सबको मिलाकर तपस्वी हो भक्त भी हो सुश्रूषा युक्त भी हो और मेरी निंदा भी नहीं करता हो और अभी भी हो ऐसे लोगों को कहना चाहिए सभी विशेषण से युक्त होगा उसी को ये बोल रहे हैं सुश्रूषा भक्ति युक्त आया डपत्युष ने आप मेधावी नहीं बात करो सुश्रूषा भी नहीं भक्ति भी नहीं आई किंतु तपस्वी है मेधावी है इतना मात्र से नहीं कहना चाहिए उस गीता को जितने विशेषण है सब लगना चाहिए ऐसे साधक हो तब उसी को कहना चाहिए ये अमूल्य औषधि है हाँ, सब इसको पचा नहीं सकते पायपानम भुजंगानाम केवलम विसवर्धन हो जाएगा सर्पों को दूध पिलाना जहर बढ़ाने के लिए होगा मूर्खों को ऐसा उपदेश देना गीता जैसे उपदेश देना खतरे से बाहर नहीं है ये कहा हुआ है भगवत विषय विषय असूया राहित्य तात्पर्य से भगवान के विषय में निंदा रहित में तात्पर्य दिखाते हैं भगवती इत्यादि शब्द भगवती असूया युक्त आय समस्त गुण भगवती असूया युक्त आय समस्त गुणवते भी नवाचन सारे गुण और हों उसमें एक ही दुर्गुण हो क्या दुर्गुण हो भगवान में निंदा भगवान की निंदा करता उसको सारे गुण से युक्त होने पर भी नहीं कहना चाहिए ऐसी है ये है ठीक है कहते हैं आगे कस्बई तरी से फिर किसको कहना चाहिए आप तो निषेध ही कर रहे हैं ये भी नहीं कहना उसको भी नहीं कहना उसको भी नहीं कहना किसको कहना चाहिए तब प्रश्न उठा आसंग पूर्व पूर्वोक्त सर्वगुण संपन्न है पूर्व में कहा हुआ पांच गुण है वहां तपस्वी हो भक्त हो और ये मेरे में भक्ति करने वाला हो और असूया नहीं करता हो इत्यादि और बुद्धिमान भी हो मेरा भी हो ठीक है सुसुरा इत्यादि कहा था आगे ठीक है अनुक्त इतर विशेषण उपलक्षणार्थम उभय ग्रहण दो कई ग्रहण किया है यहां सुश्रूषा बातचीत में करके बोलते हैं सुश्रा हो सुश्रूषा हो और भक्तिमान हो बुद्धिमान हो उसको कहना भक्ति वाला कहना चाहिए कहा तो अन्य गुणों के भी यहां समावेश के लिए उपलक्षण है अपना ग्रहण करता हुआ अन्य को भी ग्रहण करता हो अन्य भी चाहिए विशेषण ये दो ही मात्र से नहीं होगा अनुक्त इतर विशेषण जो नहीं कहा हुआ जो अन्य विशेषण है इसके उपलक्षण के लिए उभय ग्रहण या उभय ग्रहण सुश्रूषा भक्ति बदे तो भाष्यम जो कहा हुआ दो की दो ही विशेषण चढ़ाया है अंतिम में और भी सब लगना है तपस्वी भी हो शुश्रूषा युक्त भी इत्यादि टीका में आगे कहते हैं मेधावी ना तपस्वितम नाती अवक्षत है जो मेधावी होगा बाकी विशेषण तो उसको चाहिए तो तपस्वी होना इतनी आवश्यकता नहीं है यदि बुद्धिमान है तो ये कहते हैं मेधावी ना तपस्वितम न अतीब अपेक्षित वैसे अपेक्षा है किंतु अति यहां अपेक्षा नहीं है तपस्वी होने के लिए सर्वम अन्य बाधका बाबत अपेक्षा अन्य तो चाहिए मेधावी को कौन कौन भक्त भी होना चाहिए और भगवान में सेवा वाले भी होना चाहिए भगवान गुरु में सेवा भगवान में सेवा वाले होना चाहिए इत्यादि ये तो होना चाहिए ये कहा यदि तो भाव ये बोल दिया आगे कहते हैं शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्ति अर्थम उत्तर सुलभम प्रवृत्ति शास्त्र के जो प्रवृत्ति है इसके लिए कहां देना कहां नहीं देना चक्कर है तो गुरु के क्या कर्तव्य बनता है कहां देने के लिए कैसा दिया जाता है इस उस गुरु की विशेषता शास्त्र बताने वाला वक्ता है उसकी विशेषता इस श्लोक में आगे बोलते हैं उसकी प्रशंसा शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्ति अर्थम शास्त्र के परंपरा में प्रवृत्ति हो हो सके इसलिए उत्तर श्लोक प्रवृत्ति आगे के श्लोक की प्रवृत्ति दिखाते हैं जिससे कि गीता तो शास्त्र के उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होती रहे उसके लिए वक्ता की यह प्रशंसा कर देते हैं तो हम भी वक्ता बनेंगे तो आगे हमारी प्रशंसा आशा होगी लोगों की क्योंकि कोई उद्देश्य देखे बिना किसी की प्रवृत्ति तो होती नहीं प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते प्रयोजन को देखे बिना प्रवृत्ति होगी नहीं पहले प्रयोजन दिखता है तब प्रवृत्ति होती है कहीं भी तो इसलिए वक्ता की आप विश्व ये करेंगे प्रशंसा कर देंगे तो वो स्व सुरता भी सुने का मैं भी वक्ता बनूंगा आगे मेरी भी चलेगी इसलिए इसके लिए है यार प्रशंसा करते हैं वक्ता की कहना चाहते हैं शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्त शास्त्र के परंपरा की प्रवृत्ति कराने के लिए उत्तर श्लोक प्रवृत्त आगे का श्लोक अड़सठ नंबर का श्लोक आना है उसी की प्रवृत्ति दिखाते हैं संप्रदाय कर्तु फल इधानी महा संप्रदाय करने वाला संप्रदाय करने वाला गुरु है वो परंपरा चला रहा है उसके फल यहां बताते हैं उसको क्या फल मिलेगा क्या फल होगा बताते हैं ये भगवान कहते हैं यम परमं गुह्यम मद्भक्त सुविधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय यम परमं गुह्यम मद्भक्त सुविधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय उस वक्ता के फल बताते हैं पहले श्लोक में भगवान ने किया शपथ ग्रहण करवा दिया था क्या किया हाँ, जैसे संसद में शपथ ग्रहण होता है वैसे शपथ ग्रहण किया ये ये वस्तु को उसको नहीं देना उसको नहीं देना उसको नहीं देना इत्यादि बताया हम्म, शपथ ग्रहण अब यहां बोलते हैं वक्ता के मुझको ही मिलता वो वक्ता मेरी उसने पूजा की है इस उपदेश को देकर के इस उपदेश को दूसरों को देकर ये कहना चाहते हैं यह हमारे जो व्यक्ति एवं परमम गुह्यम ये गोपनीय तत्व जो है गीता के इस शास्त्र का गोपनीयम शास्त्र एवं परमम गुह्यम यह जो परम गुह्य है गोपनीय है इसको गोपनीय तत्व हो यह मद भक्तेश अविदास मेरे भक्तों में कथन करता हो इस तत्व को जो मेरे भक्त होंगे उनमें इसको प्रचार करता हो कथन करता हो मेरे भक्तों को सुनाता हो समझाता हूं किताब को लेकर के कहा भक्तिम मई पराम कृत्वा मई मई पराम भक्तिम कृत्वा मेरे में परम भक्ति करके वो गीता शास्त्र सुनाएगा परम भक्ति मेरे में हो जाती उसकी ऐसा करके मामे में यश्यति असंशय इसमें कोई संशय नहीं है मेरे को ही प्राप्त होगा इनका तो धातु है ना यश्यति प्राप्त होगा आगमिष्यति अर्थ होता है मेरे में आएगा हम्म, अन्य नहीं जा सकता कोई संसार में नहीं जा सकता हो गीता शास्त्र की महिमा है सुनाने वाले की महिमा या इमाम परमम गुह्यम ये जो परम गुह्य तत्व है ये गीता शास्त्र ये उपदेश गुह्य उपदेश है गोपनीय उपदेश अभिधाष्य थे अभिपूर्वस्थ भाषण कहा धा धातु भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से भिन्न भिन्न अर्थों प्रयुक्त होता है उपसर्गण हो पदाद अन्यत्र नियते उपसर्ग जाने धातु का अर्थ कहीं का कहीं हो जाता है प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत्त एक ही धातु हृदय हरणय धातु है हरण करना धातु भय प्रत्यय होता है प्र आदि उपसर्ग लगने से भिन्न भिन्न आ जाता है प्र लगाएंगे प्रहार मारना अर्थ आ जाता है हृदय हरणय धातु का अर्थ धातु का अर्थ हरण करना होता है स्वाभाविक रूप से प्र लगने से प्रहार मारना हो गया प्रहार आहार आंग लगेगा तो खाने अर्थ में हो गया वही धातु वही हृदय धातु प्रहार आहार संघार सम लगेगा संहार नाश कर और बी लगेगा तो बिहार घूमना फिरना एक ही धातु ऐसा हो जाता है तो स्थिति ऐसी है <clears throat> तो धातु का अर्थ कहीं से कहीं चला जाता है स्थिति ऐसी है तो अभी पूर्वक ये भी कहा है बी पूर्वो धा करो तैरते बी उपसर्ग लग जाए धातु तो करने अर्थ होता है विधातव्य माने कर्तव्य होता है क्या होता है विधातव्य करना कर्तव्य विधान माने करना सही होता है विप्रो धाधातु धातु का अर्थ स्वाभाविक अर्थ क्या है दुर्धाए धारण पोषण धारण करना पोषण करने अर्थ होता है धातु का धत्ते मन धारण करता है पोषण करता है दधाती करते ही होता है किंतु बी लग जाने से करने अर्थ हो जाता है विपूर्व धा करो अर्थे अभी पूर्वस्थ भाषण है अभी लग जाए तो बोलने अर्थ है अभिधाष्यति बोला क्या बोला है अभी पूर्व धातु है लिट लकार लिट लकार का प्रयोग है अभी लिट है कथन करेगा यह है ये मेरे जो उपदेश है इसको कहेगा मेरे भक्तों कहेगा कहने का संपूर्वक मिलने चाहती संपूर्वक धाधातु मिलने संधान संधि आदि मिलने अर्थ में होता है संधि धाधातु के रूप उपसर्ग गो की सूत्र की प्रत्यय लगाते धाधातु संधि मिलने अर्थ हो जाते संपूर्वक लगने से धातु का अर्थ अलग है कारण और पोषण किंतु संधि माने मिलना अर्थ आ गया क्या लगने से सम लगने से संधि ऐसा हो जाता है और निपूर्व स्थापन निधान बोलते हैं ना कहीं रखना निक्षेप करना इसका तुम हो जाता वही धारा तो ऐसा है तो यहां पर अभिपूर्वक धातु का प्रयोग है अभिधाष्य कथयति कथयिष्यति मेरे भक्तों को कथन करेगा यह कहे भक्ति में ही पराम कृत्वा कहा मेरे में परम भक्ति करके गीता शास्त्र सुनाना मैंने परम भक्ति हो जाती उसकी कृपया मामेव यश्यति असंशय मेरे को ही प्राप्त होगा ही ये लगा के बोल दिया मेरे कोई अन्य को प्राप्त नहीं होगा मेरे को ही प्राप्त होगा असंशय इसमें कोई संशय नहीं है ये वक्ता की प्रशंसा जो गीता शास्त्र के उपदेष्टा है उनकी प्रशंसा यहां की गई है भाषा भगत है यह इमं यथोक्तम परम निश्चिरस्तार्थम केशवार केशवार्जुन संवाद रूपम ग्रंथम गुह्यम गोप्यम मधुभक्तेश्वर अभिदास में ये कहते हैं कि यह इमम भगवान कहते जो या मैंने जो जो व्यक्ति इमम यथोक्तम परमम यथो तो पूर्वोक्त तो जो गोपनीय उपदेश है गीता शास्त्र है अर्थ हम कहते हैं मोक्ष के लिए जो कहा गया गीता शास्त्र मोक्ष के लिए तरह मान मोक्ष होता है मुक्ति के लिए तो मुक्ति के लिए है जो नो संवाद रूप में केशव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में गीता है प्रश्नोत्तर के रूप में है संवाद रूपम ग्रंथम ये जो ग्रंथ है गीता ग्रंथ गुह्यम मैंने गोपनीयम कहा गोप्यम मद भक्ति सु मई भक्ति ही भक्ति मत सु मेरे में भक्ति वाले हों जो लोग अविनाश्यति जो कथन करता हो बक्षति कथन करता हो ग्रंथ तो अर्थ से ग्रंथ से भी अर्थ से भी दोनों से शब्द शब्द अर्थ दोनों से स्थापय ऐसे स्थापित करता है मेरे भक्तों में स्थापित कर देता हूं गीता शास्त्र को शब्द से भी अर्थ से भी यथा तो ही मैया जैसे मैंने तुम्हारे पे स्थापित कर दिया तो ही अर्जुन अर्जुन तुम अर्जुन के लिए जैसे मैंने स्थापित किया तुम्हारे में स्थापित किया है इसी प्रकार कोई भक्त ऐसा काम कर देता हूं मेरे भक्तों में भक्तेर पुनर्ग्रहणात कहते हैं भक्ति शब्द दोबारा ग्रहण पूर्व श्लोक में कहा ना भक्त आय कदाचन भक्त शब्द है भक्ति विशिष्ट को ही भक्त बोलते हैं अर्थादि को अच लगा करके भक्तिमान जो होगा उसको भक्त बोलते हैं बतु भर्त में अच प्रत्यय लगा देते हैं भक्त बनाने के लिए तो ये भक्ति शब्द होगा क्या होगा हाँ। जो भक्ति वाला हो उसको भक्त कहा जाता है मत अर्थ में प्रत्यय लगा के भक्त बनाया गया है भक्तिमान को भक्ति है तो ना भक्त आए कदा जाए भक्त शब्द पहले भक्तिमान न हो उसको नहीं कहना चाहिए कहा पूर्व से भक्त भक्ति शब्द आया हुआ है भक्त शब्द में भक्ति उसके पेट पे है भक्ति वाला वो भक्त कहा जाता है तो भक्ति शब्द पहले भी आया पूर्व श्लोक और यहां भी मत भक्ति सुविधा से भक्तिमय परम कृपा करके दोबारा बोल रहे हैं तो स्थिति में पुनरुक्ति होगी शंका है भक्ति पुनर्ग्रहणा भक्ति शब्द का दोबारा ग्रहण होने से भक्ति मात्र ने केवल न शास्त्र संप्रदाय ने पात्र भक्ति दिगम्य दे केवल भक्ति मात्र से ही केवल शास्त्र का संप्रदान करने में उपदेश करने में यदि भगवान के भक्तिमान हो तो उसको उपदेश कर देना चाहिए यह सिद्ध हो जाता है दो बार उसको दृढ़ करने के लिए दो बार भक्ति शब्द का प्रयोग कर दिया है इसलिए सिद्ध होता है कि भक्ति मात्र से भी यदि भक्ति भगवान के भक्ति वाला हो भगवान के भक्त हो तो उसको इतने मात्र में भी उपदेश करना चाहिए ये सिद्ध जाना जाता है कहा कथम अभिधाष्यति मधभक्तेश अभिधाष्यति कहा कैसे बोलता है वो यदि उच्च भक्तिमयी पराम कृत्वा भगवता परम गुरु शुश्रूषया मया क्रियते एवं कृत्वा ये मान करके इस उपदेश के द्वारा मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं हम्म, ऐसा मान के उपदेश करता हूं क्या मान करके मैं सेवा कर रहा हूं भगवान की सेवा ये मान करके मन में ये भाव लेकर के यदि उपदेश करता हो तब की बात है वो भक्तिमान होगा यही है किस प्रकार भक्तों को कहेगा तो कहते हैं भक्ति वही परम कृत्वा कहा मेरे में परम भक्ति करके माने क्या है भगवत परम गुरु भगवत परम गुरु है तो उनका शुश्रूषा मान सेवा भगवान की सेवा मया क्रियते इसी उपदेश के माध्यम से मेरे द्वारा भगवान की पूजा होती है मेरे द्वारा उनकी सेवा की जाती है इतम कृत्य ऐसा मन में रख करके गीता का उपदेश करता हो कि किंतु अर्थ लिप्सु होकर के नहीं करता हो विषय लिप्सु होकर के नहीं तब वो मेरे में आके बैठेगा मेरे को प्राप्त होगा शरीर छूटने के बाद में विश्वत हो सका तस्तम फलम इस भगवान के लिए मैं पूजा कर रहा हूं करके इस सेवा कर रहा हूं करके गीता किसी को सुनाता हो शब्द से भी अर्थ से भी तो उसका फल क्या है तस्य इधम फलम उसके लिए फल होगा उसका फल होगा क्या माँ में वैसे तो मेरे को ही प्राप्त होगा भगवान कहेगा माम अस्मत शब्द बोल रहे हैं ऐसे माने मुच्यते वह माने मुक्त होगा संसार से अर्थ है मैं मैं भी स्थिति कर संसार से मुक्त होगा शरीर से मुक्त होगा ये अत्र संशय न करते हुए इसमें संशय नहीं करना चाहिए ये कहा टीका में कहते हैं यह इति अध्याय कह अध्यापक ये पढ़ाने वाला जो है गीता पढ़ाने वाला अध्यापक है यह शब्द से उसको लेना है सर्वनाम है यह इति अध्यापक और दृष्टि यह शब्द के द्वारा अध्यापक का दृश्य गया पढ़ाने वाला गीता को सुनाने वाला अर्थ सुनाने वाला शब्द सुनाने वाला जो भी दोनों परत्वम परमत्वम ग्रंथ से परम कार परम ग्रंथ में परमत्व है यह ग्रंथ अतिश्रेष्ठ है ऐसा परमत्व है वही है गोपनीय है परमत्व ग्रंथ से ग्रंथ में है पुरुषार्थ साधनत्व ग्रंथ में परम क्यों गीता ग्रंथ को परम कहा विशेषण लगा दिया परमम गुह्यम गोपनीयम तो क्यों नृत्य से पुरुषार्थ की साधन है बाकी सिद्ध भी पुरुषार्थ होते साधिशय होते हैं एक से एक बढ़कर होते हैं किंतु ये निरक्षय है जहां पहुंच करके अतिशय नहीं होता आत्मभाव में पहुंचाने वाले ग्रंथ है ये गीता इसलिए परम परम कहा गीता का विशेषण लगा परमम उजम विशेषण लगाया हुआ है कहा परमत्व विषय किम तो कहा ग्रंथ से निरतिशय पुरुषार्थ साधन होता है यह ग्रंथ जो है ना निरतिशय पुरुषार्थ है मोक्ष है उसके साधन है ये इसी के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है साधक इसलिए परम विश्लेषण लगा दिया परमम गुह्यम कहा हुआ है कहा परमम इत्यादि कहा था गोप्यत्व रहस्य रहस्य अर्थ विषयत्व रहस्य अर्थ विषयत्व गोप्य मन एकांत में कहने योग्य समाज में कहने लायक नहीं है इसलिए गोप्य कहा गुप्त रक्षण धातु है ना ये रक्षा की आवश्यकता है समाज के लिए नहीं न जाने कैसे कैसे संस्कारी लोग वहां होते हैं गोप्यत्व गोप्यम का गुह्यम का तो गोप्यम होता है तो उसका अर्थ माने गुह धातु संवरण ढकने अर्थ है छिपाने अर्थ में गीता शास्त्र सबके प्रकाश करने अर्थ में नहीं है उसी को गोप्य कहा गोपरक्षण धातु से अर्थ बता दिया गोप्यत्व अश्य मान गीता शास्त्र से रहस्य अर्थ विषयत्व एकांत का विषय होता है ये एकांत में माने साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी हो उसको देना चाहिए सबको नहीं स्थिति है यथोक्त संवाद से जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है गीता में यथोक्त संवाद से ग्रंथ तो तथा भक्त स्थापना दृष्टान मधुभक्त तो अभिषात अभिशाप भाष्य कहा था ये गोपनीय जो विषय है इसको मेरे भक्त में तो स्थापित कर देता हूं कथन करता हूं कहा था उसके विषय में कहते हैं यथोक्त संवाद से ग्रंथ तो अर्थ से ग्रंथ से भी शब्द से भी अर्थ से भी भक्तेश स्थापन है जो भगवान के भक्तों में स्थिति करते में दृष्टान्त व दृष्टान्त यथा इत्यादि है यथा तो ही माया जैसे मैंने तुमको दिया ना गीता शास्त्र ठीक इस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसे मेरे भक्तों को देता हुआ जाता है क्यों तो मेरे अनन्य भक्त इसलिए मैंने दिया इसी प्रकार अन्य भक्तों को भी कोई देता हो ठीक हमें कहते हैं मई वासुदेव भगवती अनन्य भक्त है तो ये मैं जो वासुदेव हूं ना मेरे में अनन्य भक्ति वाला जो तुम हो कौन तो ये अर्जुन है तुम जो अर्जुन हो तुम्हारे में यथा मया ग्रंथ तो अर्थ से स्थापित है जिस प्रकार मैंने ग्रंथ से भी और अर्थ से भी स्थापित करा दिया तुम्हारे में भगवत गीता पूरा कर दिया दे दिया मैं छिपाया नहीं ग्रंथ शब्द से भी पूरा दिया और अर्थ से भी दिया तथा उसी प्रकार मद भक्तेशु अन्येशु भी मेरे भक्त जो अन्य भी होंगे तुम्हारे से अन्य जो होंगे उनमें भी यो ग्रंथम इमम स्थापित इस ग्रंथ को अर्थ से स्थापित कर देता हो जो व्यक्ति करता हो मन वहां तक पहुंचा देता हो तस्य एकदम फल उस व्यक्ति के लिए फल है ये जो ग्रंथ पहुंचाने वाला हो अर्थ पहुंचाने वाला हो मेरे भक्तों में उसके लिए फल होता है तो तरत शब्द आगे के साथ संबंध करना उसका फल है करके आगे के साथ संबंध करना कहा न भक्त आया भक्ते अधिकार विशेषणत्वात् उगते मद भक्तेशु तो पुनर्भक्ति ग्रहण अनर्थक अनर्थकम इति आशंका पूर्व बात बोलता है पूर्व श्लोक में ना भक्त आय कदाचन करके रहा था भक्ति रहता है न कदाचन वाच्यम बोला आपने पूर्व श्लोक में भक्तवान भक्तिमान को भक्त बोला जाता है भक्तेर अधिकार विशेष भक्ति के विशेषण को अधिकार अधिकारी विशेषण है उसी अधिकारी को तेना कर कहने पर अधिकारी का विशेषण लगा दिया मद भक्तेशु यहां भी फिर मद भक्तेशु कहना तेरे भक्तों में कहना करके कहा गया पुनर्भक्ति ग्रहण भक्ति शब्द के ग्रहण भक्त शब्द ग्रहण में भक्ति के बिना भक्त नहीं बनता भक्त शब्द बना लिया पहले भक्ति शब्द चाहिए भज धातु से स्त्रियाम तीन सूत्र से तीन करे तो भक्ति भजन भक्ति का अर्थ ल्यूट करते तो क्या बनता भजन तीन कर दिया भाव में प्रत्यय भक्ति वो भक्ति जिसमें हो उसको भक्त कहा जाता है अर्थात को आज मतुपथ में जैसे गोमान बोलते हैं गाय वाला इसी पर भक्ति वाला को भक्त बोला जाता है तो भक्ति शब्द छिपा हुआ है भक्त में ये तो भक्ति है यही है तो पहले जो ना भक्ता है कदाज तो हमें भक्त के लिए कहना करके कहा हुआ अर्थ से तो अब फिर मत भक्ति से करके बोल रहे मेरे भक्तों में कहता फिर वही भक्ति शब्द पुनर्ग्रहण हो गया दोबारा अनर्थक है चबाया हुआ को चबाना पिष्ट पेशन पिसा हुआ को पीसना अनर्थक होता है तो यह संज्ञा आगे तो उत्तर देते हैं भक्ते भक्ते पुनर्ग्रहण भक्ति के विशेष दोबारा ग्रहण किया बाकी शब्दों का दोबारा ग्रहण नहीं किया तपस्वी आदि का ग्रहण नहीं दोबारा एक ही बार कहा भक्ति शब्द दोबारा आ गया पूर्व श्लोक में विश्व में भी भक्तेर विशेष क्या है भक्ते है भक, पुनर्ग्रहणात भक्ति मात्र ने केवल है तो शास्त्र संपादन पात्र भक्ति दिखाई ये जाना जाता अर्थ से समझा जाता है कि भक्ति शब्द का दो दो बार कहा एक ही बार से अर्थ निकलता दो दो बार जोड़ लगा इससे क्या होगा भक्ति मात्र से केवल भक्ति हो तो मात्र केवल अकेले में भी शास्त्र संप्रदान में पात्र हो जाता हो ये सिद्ध हो जाता है यदि भगवान में भक्ति हो गुरु में भक्ति हो उनके वचनों को निष्ठा रखता हो इत्यादि सुश्रुतादि सहकारी राहित्यम केवल शब्दार्थ यदि भक्तिमान हो तो सुश्रुता आदि की आवश्यकता नहीं होगी वहां न होने पर भी वो पात्र है ये कहने के लिए कहा केवल शब्द दिया है भाषा में केवल है शास्त्र पात्र भक्ति का भक्ति मात्र से भी केवल अकेले भक्ति मात्र से भी शास्त्र देने में पात्र बनता है कहा यदि मात्र शब्द है भक्ति मात्र ना आया हुआ है मात्र शब्द आ गया सूचितम ये तत्व ये सूचित हो गया मात्र शब्द से केवल अकेला हो जाता है अर्थ सिद्ध आ जाएगा तथापि इतर के केवल शब्द के द्वारा उसी स्पष्टीकरण करें केवल मात्र का ही राष्ट्रपति जो मात्र और केवल दोनों दिया मात्र का से और आ नहीं सकते फिर केवल बोलना व्यर्थ दिखता है उसी के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए मात्र का अर्थ केवल ही ना लगा दिए वाषिकार अकेले इसे विरोध नहीं है कहा प्रश्न पूर्वक अभिधान प्रकार कथयती प्रश्न पूर्वक कथन का ही प्रकार बताते हैं अभिधान माने कथन कथन का प्रकार किस प्रकार कहना कथम इत्यादि प्रश्न आया वो कहने वाले के मन में क्या भाव होना चाहिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं इस उपदेश देने के माध्यम से ऐसी भाव होना चाहिए स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए भक्ति मई पराम कृत्वा मेरे में परम भक्ति करके इस उपदेश के माध्यम से किस माध्यम से उपदेश दे रहा है वो वक्ता भगवता परम गुरु सुश्रा मया कृते माने भगवान जो परम गुरु हैं परात्पर गुरु हैं उनकी सेवा मेरे द्वारा किया जाता है यह भाव हो उसका ये त्यपन करता इस प्रकार मन को भाव बना करके जो उपदेश करता हो उसका फल आगे करते करते हैं टीका में कहते हैं यद शब्द अपेक्षितम पूरा की यद से कहा है अब तस्य आएगा क्या आएगा तस्य एकदम फल पुस्तक बोला जाते यद शब्द यद तदो दोनों का संबंध होता है यद तदो संबंध जा, जो जाएगा वो खाएगा बोलते हैं यह और वहां का संबंध होता है हिंदी में इस प्रकार तत् का संबंध होता है यद आया तो तत् जरूर लगाना पड़ेगा सोलो में तत् नहीं है तस्य शब्द नहीं है वह अपेक्षा है उसकी यद के लिए यद बोलने पर कौन है जो वह उसको ये उसको जो ऐसा करता है उसको फल मिलेगा ये कहना है यद तदो संबंध यद शब्द तत्सबंध का परस्पर संबंध रहता है जहां तद आया हो तो यद का अध्ययन करना पड़ेगा या केवल यद आया हो वहां तत् का अध्ययन करना पड़ेगा दोनों का संबंध दिखाना होगा तस्य एकदम फल यद से कहा हुआ था उसके लिए तत्शब्द का संबंध भाष्यकार दिखाते हैं तत्शब्द मूल में नहीं है भाष्यकार ने दिखा दिया तस् एकदम फलम उसका फल है महावे वेश्यति मेरे को ही प्राप्त होना मुच्छ है मेरे को प्राप्त होना मुक्त होता है जन्म वर्ण रूप संसार से मुक्त होता ही आता तो भगवान को प्राप्त करना माने मुक्त होना रहे वो अत्र संशय न करते वैष्णव संशय नहीं करना चाहिए एक ठीक है मैं कहते महामेव इष्यति महामेव इष्यति एवं यदि अन्वय गृहत्व मेरे को ही प्राप्त करेगा ऐसा अन्वय ग्रहण कर दिया संबंध दिखाया मेरे को ही प्राप्त करेगा वो व्यक्ति कौन जो गीता शास्त्र का उपदेषता जो होगा मैं इसके द्वारा भगवान की पूजा करता हूं ऐसा मान के कर रहा भक्ति करता हूं सेवा करता हूं मान के उपदेश करता हो तो या अन्वय देखे संबंध दिखा करके व्याख्या करते हैं मुच्छते वही है मेरे को प्राप्त होना मुक्त होता है आगे टीका होगी सर्वेशम ननु सर्वेशा मुक्ति साधना नाम ध्यान से है माने मुक्ति के साधन अनेक प्रकार है उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान होता है चिंतन तो यहां पर गीता के उपदेश करने से मुक्ति कैसे ध्यान श्रेष्ठ होता है गीता के उपदेश की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ होगा सभी ज्ञान के साधन मुक्ति के साधन जितने भी है सबसे पहले मुक्ति के साधन में ध्यान श्रेष्ठ है पूर्ववादी का संकार ननु सर्वेशा मुक्ति साधना जितने भी मुक्ति के साधन एक ही अनेक है अनेक प्रकार के साधनों में ध्यान से श्रेष्ठत्व ध्यान सर्वश्रेष्ठ है तनिष्ठ से मुमुक्ष और नास्तिक विद्या संप्रदाय में प्रवृत्ति करें ध्यान में निष्ठा जो मुमुक्ष है तो उसको कोई ज्ञान देने की आवश्यकता विद्या देने की आवश्यकता ही नहीं मुक्त हो ही जाएगा वो क्यों उपदेश करना इसको जो ध्यान निष्ठ व्यक्ति होगा उसको उपदेश की क्या आवश्यकता है श्रेष्ठ साधन है उसके पास नो नो सर्वेशा मुक्ति साधनाम जितने भी मुक्ति के साधन बताए गए हैं शास्त्रों में ध्यान से श्रेष्ठत्व सर्वश्रेष्ठ ध्यान है ध्यान मानी चिंतन दही चिंता है धातु इसे लूट करेंगे तो ध्यान बनता है चिंतन उसी का ध्यान है एक विषय में गड़ जाना डूब जाना एक ही विषय में रखना उसका नाम ध्यान है लौकिक कार्य में ध्यान लगाओ बोलते हैं ना माने एक एकाग्र वृत्ति में जाओ बोलना चाहते हैं जिसमें काम में लगे हो उसमें एकाग्र हो जाओ ध्यान लगाओ ऐसा बोलते हैं विषय विशेष के चिंतन उसको ध्यान कहते हैं तो <clears throat> तन निष्ठा से ध्यान निष्ठा से मोक्ष और ध्यान निष्ठ मोक्ष होगा ध्यान में लगा हुआ जो होगा उसको विद्या संप्रदान में प्रवृत्ति होगी विद्या क्यों देगा ज्ञान गीता क्यों पढ़ाएगा दूसरे को ज्ञान श्रेष्ठ साधन लेके बैठ गया जो दूसरे को गीता क्यों पढ़ाएगा प्रवृत्ति नहीं होगी गीता पढ़ाने में ये शंका है तब उत्तर देते हैं किंच करके हाँ ज करके बोलते हैं न मनुष्य सु कश्चित में प्रीकृत तम अभितानद में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि न मनुष्य सु कश्चित में प्रीकृत तम अभितानद में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि मनुष्य प्रिय तस्मात मनुष्यु प्रियकृतम नमे कश्चित बोलते हैं नमे भविता कश्चित मेरे में कोई नहीं होगा मेरा उससे बढ़कर प्रिय मनुष्यों में प्रिय व्यक्ति कोई और न कौन एक गीता के अर्थ और शब्द दोनों सुनाने वाले की अपेक्षा अन्य कोई भक्त नहीं हो सकते अतिशय प्रिय करने वाला प्रिय तो और भी है ध्यान करने वाले प्रिय है हाँ जो जो करेंगे मूर्ति के साधन सब प्रिय किंतु प्रियतम यह बता देगा प्रिय प्रियतर प्रियतम अतिशय प्रिय ही होता है ये भगवान कह रहे तस्मात जो गीता का उपदेष्टा है उसके पंचमी उससे उपदेष्टु गीता के जो उपदेष्टा है उसके उससे बढ़कर भूमि इस संसार में भूमि इस भूलोक में प्रियकर्तमा कश्चिन में न भविता कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता नहीं होगा भगवान रहे न भविता नहीं होगा न तो मैं तस्वान प्रियतर भी कहा मैंने उससे प्रियतर भी कोई नहीं होगा अतिशय अच्छा, प्रिय प्रिय करने वाला भी कोई नहीं है अतिशय प्रिय भी कोई नहीं है मेरा प्रिय करने वाला कौन है गीता शास्त्र को सुनाने वाला और प्रियतर भी वही होगा मेरी अति प्रिय भी वही होगा मेरे को प्रिय करने वाला व्यक्ति और मेरा प्रिय भी हो मेरा भी प्रिय होगा था न तो वे तस्वाद अन्य प्रियतर भूमिका ये भूलोक में संसार में और कोई मेरे लिए प्रियतर भी नहीं होगा अतिशय प्रियतर वही है अन्य प्रिय है किंतु ये प्रियतर है अति प्रिय है और गीता सुनाने वाले प्रिय करने मेरे प्रिय कर मेरे प्रिय करने वाले मैंने ज्ञान के मुक्ति के साधन अपनाने वाले जितने हैं उनमें सबसे प्रिय प्रिय करने वाला यही है गीता शास्त्र सुनाने वाला उससे बढ़कर कोई है ही नहीं कहा भगवान समय हो गया है भाष्य टिकानी पूरी ओम पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण